घटित रघुमोरे सब गुण सब शुभ गुण बस बसियर तोरी भगति ज्ञान विज्ञान विरागा योग चरित्र रहस्य विभागा

आदि गुण गुना कर मोरी मोरी भगत प्रिय संतत अस विचार सुन काग गाय बचन मन मम पद कर सुअचल अनुराग स्मरण करें उद्यान भगवान की बाल लीलाएं कालभूषण ने देखी और फिर उनको मोह हुआ और तमाम ब्रह्मांडों में घूमते फिरे भगवान की माया का विस्तार उन्होंने देखा अंत में व्याकुल होकर के भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की उनसे कहा कालभूषण ने भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने भगवान ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा वरदान में भगवान ने अष्ट सिद्धियां ज्ञान वैराग्य योग इत्यादि बहुत सी वस्तुएं लेने की कही लेकिन फिर कालभूषण ने अपने मन में विचार किया कि भक्ति के बिना ये सब अधूरे हैं उन्होंने खूब अच्छी तरह से मन में विचार करने के बाद फिर भगवान से भक्ति मांगी भक्ति का प्रधान रहा भक्ति भी किस प्रकार की विरल है निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे चित्र भगवान नहीं लगा रहे उन्हीं में प्रेम रहे इस प्रकार की भक्ति उन्होंने मांगी भगवान ने उसके उनके उत्तर में भगवान कहते हैं कि ये वस्तु कह रघुपुर नायक रघुपुर नायक भगवान राम ने उनसे कह दिया ये वस्तु ऐसा ही कालभूषण से भगवान ने साक्षात एवं वस्तु कह दिया एवं वस्तु मैंने ऐसा ही हो जैसा तुम बताना चाहते हो वैसे ही हो जाए वरदान देने के तरीका ऐसे ही है एवं वस्तु ऐसा ही होगा उनको पीछे कई जगह देखते हैं कि जैसे बच्चे के लिए भगवान के पास गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और प्रदान भी मांगा उनसे तो भगवान ने फिर उनको वरदान दिया लेकिन मन ही मन में दिया ऐसे नहीं बोले योग मस्तु ऐसे और भगवान ने उनसे फिर और कुछ उसके बाद में कहा भी नहीं कि तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी या फिर तुम क्या करना क्या नहीं करना ऐसा कुछ बताया भी नहीं इससे मालूम होता है कि वशिष्ठ जी पहले ही भगवान भक्ति थी ही भगवान से भक्ति मांगी तो वो दृढ़ हो गई भगवान की भक्ति हुई और उसके बाद कहीं किसी उपदेश की आवश्यकता नहीं थी लेकिन यहाँ जो है भगवान जो है कालभूषण को एवं मस्त बोलते हैं उसके बाद में बहुत सारा उपदेश भी देते हैं एक प्रकार से यहाँ ये भगवान का उपदेश फिर प्रारंभ होता है एवं मस्त के बाद से जैसे भगवान ने अयोध्या वासियों को उपदेश दिया जैसे लक्ष्मण जी को उपदेश दिया ऐसे यहाँ भगवान जो है वो कालभूषण जी को भी उपदेश देते हैं ये मस्त तो बोलते ही हैं उपदेश तो वो उपदेश जो वो क्या है वो उनको देखे तो बहुत सी बातें भगवान स्वयं परमात्मा की नई बातें हैं वो स्वयं अपने आप अपने श्री मुख से बोलते हैं वो ध्यान देने की बातें हैं बोले वचन परम सुखदायक भगवान जो है स्वयं सुखदायक हैं उन्होंने इस प्रकार के वचन बोले और वचन भी सुखदायक है भगवान जो कुछ बोले तो सब वचन बड़े ही सुखदायी थे वो भगवान बोलते हैं साधु संगी से कहते हैं कि सुन बाय है सहज सयाना कहा कि हे कादूषण तुम बड़े सयाने और सहज सयाने सहज सयाने के मने तुम्हारी सयानी जाती है नहीं कहते कबुआ बड़ा सयाना होता है तो भगवान ने कहा तुम बड़े सयाने हो सहज सयाने हो <clears throat> तो सयान पर तुमने दिखाया मैंने ऐसी वस्तु तुमने मांगी जिसकी मांगने में और बाकी सब वस्तुएं आ जाए कुछ भी बचे नहीं ऐसी बात पर <clears throat> एक व्यक्ति सुनते हैं कैसे करके प्रधान मांगने वालों में से एक व्यक्ति था वो तो बहुत दरिद्री था कुछ नहीं था उसके पास <clears throat> तो उसको कहीं कोई देवता से हो गए चाहे हनुमान जी हो कि और देवता हो उनके सामने आ गए उसके और उससे कहा कि वरदान मांगो तो वो तो भौतिकवादी व्यक्ति था तो वरदान मांगा उसने लेकिन उसने सोचा कि हमारे पास तो कुछ है ही एक चीज मांगेंगे तो दूसरी नहीं होगी दूसरी मांगेंगे तो तीसरी नहीं होगी तो ऐसी क्या मांगे कि जो सब चीजें हो तो उसने कहा कि हम असल में ये चाहते हैं कि हमारा पुत्र सोने के कटोरे में दूध पीता दिखाई अब उसके परिवार भी था ना स्त्री भी नहीं थे पुत्र भी नहीं थे परिवार भी नहीं था अब पुत्र कहां से आ जाएगा बिना विवाह को इसके मैंने पहले विवाह उसका हो फिर उसका पुत्र उसे प्राप्त हो मैंने ऐसा भी नहीं विवाह हो जाए पुत्र प्राप्त न हो तो पुत्र का वरदान भी हो गया तो विवाह भी हो पुत्र भी हो और ऐसा भी नहीं दरिद्री बना रहे सोने की कटोरी में कौन दूध पिएगा जब धन संपत्ति बहुत हो उसके तब फिर तो सोने की कटोरा भी उसे मिलेगा तो मैंने फिर धनवान भी हुआ और फिर ये हुआ कि धनवान तो हो लेकिन दूध की बड़ी महत्ता मैंने गाय भी हो घर में दूध भी होता हो तो धनी व्यक्ति बहुत होते हैं लेकिन दूध को तरसते रहते हैं कोई पानी वाला दूध मिला खड़ा वाला दे जाए तो फिर उसको फिर वो उसका अपना गाय अपना दूध देने वाली गाय दूसरे हुई तो फिर उसके सब मैंने भौतिक रूप से वो सब प्रकार से संपन्न तो देखिए चतुर्दोग प्रधान मांगने के लिए तो ऐसा प्रधान मांगे ये सब बात तो ये पर, ये तो भौतिक वरदान है जैसा उदाहरण बताया परमार्थ के वरदान में ऐसे ही करके है कि अगर भगवान की भक्ति मांग ली तो कहते सब बातें मान अब तक परमार्थ में कुछ बचा नहीं सब बातें अब स्वयं भगवान आगे बताते हैं कि देखो भक्ति आ जाती तो क्या क्या सब आ जाता है कैसे आ जाता है कुछ विशेष नहीं बचता इसलिए कहते तुम सहज सहज सयान्य हो बड़े सयान्य होकर के तुमने बड़े वरदान मांगा काहे न मांगे से अरे वरदाना तो भला ऐसा वरदान क्यों न मांगते से मैंने सयाना व्यक्ति ही इस प्रकार का बहुत विचार मांग सकता है तो ये तो कालभूषण की ये बात है अन्य लोगों के लिए शिक्षा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है संसार में अगर चाहता है कुछ प्राप्त करना तो भक्ति प्राप्त करना चाहिए उसी की इच्छा करना चाहिए काम और जो व्यक्ति भक्ति से आता है वो तो सयाना है और बाकी कोई सयाना नहीं सब मैंने माया ने ठग दिया है बाकी लोगों उनकी बुद्धि मारी इसलिए कहते हैं सब सुख खान भगत तय मांगी कि तुमने जो भक्ति मांगी वो सब सुखों की खानी है मैंने फिर भक्ति आ गई तो सभी सुख आ गए कहते नहीं जब को तो ही संबड़भागी और कोई तुम्हारे समान संसार में कोई बड़ा बड़भागी नहीं है मन इससे बड़ा भाग्य क्या होगा जिसको भक्ति प्राप्त हो जाए भक्ति प्राप्त हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो गया तो इसलिए के सबसे बड़ा भाग्यशाली वही है जैसे कि भगवान की भक्ति प्राप्त और जो मुनि कोटि जतन नहीं लाही कहते हैं इस स्थिति को इस भक्ति की स्थिति को मुनि लोग करोड़ों यत्न करते हैं तो भी प्राप्त नहीं होते और जे जब योग अनल और वे लोग बड़ा जप करते हैं योग साधना करते हैं योगाग्नि में अपने शरीर को जलाते हैं मैंने बड़ा परिश्रम करते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए रीझू देख तो रिचतराई के तुमने उसी को वही को तुमने वही सब प्राप्त कर लिया और तुम्हारी चतुरता देख करके हम बड़े प्रसन्न है मांगे वो भगत मोहे अति भाई तुमने भक्ति प्राप्त मांगी ये हमें बहुत अच्छा लगा मैंने ये नहीं कहते तुमने चतुरता की हमसे चालाकी करके तुमसे हम नाराज हैं ऐसे नहीं तुमने ये चतुर्था तुम्हारी देखी तो उसमें प्रसन्न है तो भगवान भी उस पर प्रसन्न है जो भक्ति चाहता है भगवान भी उस पर प्रसन्न है जो इस प्रकार से जीवन का परम लक्ष्य है उद्देश्य उसे प्राप्त करना चाहता है अब भगवान से कोई व्यक्ति संसार के बंधन मांगे संसार का जाल मांगे पुनर्जन्म मांगे तो ये भगवान कहेंगे देखो कैसा व्यक्ति है ना सुना उसमें क्या कुशलता प्रसन्नता तो तब है जो कोई भक्ति चाहे भगवान से तो भगवान भी उसका प्रसन्न है सुन बिहंग प्रसाद है मोड़े भगवान कहते हैं कि देखो अब तो हमारी कृपा से तुमको क्या होगा सब शुभ गुण बस यही गुरु तोड़े मेरे भगवान ने ये वस्तु कहकर भक्ति तो दे दी फिर आगे भी कह देगी कि देखो तुम्हें भक्ति तो प्राप्त होगी होगी हमारे कहने से लेकिन भक्ति के साथ साथ और भी सब बातें प्राप्त हो जाएंगी सब सब गुण बसी ही और तोरे तुम्हारे हृदय में सभी सब गुण आ जाएंगे मान भक्ति आ जाए तो सब सब गुण आ जाए अब एक तो बात यही देखो रामचरित मानस के अनुसार संतों के लक्षण जगह जगह कहे हैं भगवान ने भी कहे तुलसीदास जी ने भी कहे ये भगवान संतों के जो लक्षण है सब भक्तों के लक्षण और संतों के लक्षणों में सब गुण जितने हैं वो सब समाहित हैं दुर्गुण उनमें कोई भी नहीं है सब गुण ही गुण है इसलिए वो सब संत है और जो संत है वही भक्त है तो कहते हैं भगवान कहते हैं कि तुम्हें भक्ति प्राप्त हो गई मैंने मतलब संतों के जितने लक्षण है वो सब तुम्हें आ जाएंगे अब किसी कमी कोई गुण की कमी नहीं रह जाएगी सब गुण आ जाएंगे संसार में जो लोग अपने प्रयास से गुण अपने अंदर लाते हैं तो एक गुण आता है तो दूसरा नहीं आता दूसरा आता है तो दूसरा नहीं आता कहीं कहीं संसार में बड़े बड़े वीर लोग होते हैं तो वीरता होना अच्छा गुण है लेकिन वीर हो जाते हैं तो दया नहीं रह जाती अगर कोई दयालु है तो दया तो आ गई उसमें लेकिन कोई सामर्थ्य नहीं कि दया कर सके किसी पर कोई सहायता कर सके दया होने से अधूरी दया रहेगी ये गुण रह गया लेकिन उस दया की पूर्ति नहीं पड़ती जब कुछ सामर्थ्य हो धन संपत्ति हो कुछ शरीर में बल हो कुछ ज्ञान में बल हो तब किसी दूसरे की सहायता करे और वो सामर्थ्य दया दया है तो करके संसार में ऐसे होता है बताया कि एक गुण आता है तो दूसरे गुण का अभाव रह जाता है लेकिन भक्ति आती है तो सब गुण आ जाते हैं देखो भक्ति एक ऐसा गुण है कि उसके भगवान कहते हैं कि उसमें सब गुण आए तो जितने भी भगवान ने गुण गिनाए पर उपकार दया क्षमा करना ये सांस सहनशीलता ये सब जितने भी गुण हैं शांत स्वभाव सप्तगुण की वृद्धि सब व्यक्ति में आ जाएगी अभय भी हो जाए शांति भी हो जाए कर्त भी हो जाए कृतकृत भी हो जाएगा ये सभी गुण उसमें आ जाएंगे इस प्रकार तो कहते जहाँ भक्ति आई हाँ ये समस्त गुण उसके अंदर आ जाएंगे सब गुण सब शुभ गुण बसी हैं और तोरे और भगत ज्ञान विज्ञान विरागा कहते ये भी सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा भक्ति तो प्राप्ति हो जाएगी और ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा विज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा वैराग्य भी प्राप्त हो जाएगा जैसे कल भी कह रहे थे किसी को भक्ति प्राप्त हो तो बिना ज्ञान के भक्ति कैसे प्राप्त हो जाएगी ज्ञान तो पहले होना चाहिए तो ज्ञान भक्ति के मैंने परमात्मा में चित्त का लगा रहना उसी में प्रेम होना उसी में स्थित रहना तो जब परमात्मा ही नहीं जानते तो चित्त का ही लगा रहे तो परम चित्त परमात्मा में लगाए रखने के लिए परमात्मा का तो ज्ञान होना चाहिए उपलब्ध होना चाहिए परमात्मा तो परमात्मा का ज्ञान हो विज्ञान हो मैंने परमात्मा का दर्शन हो उपलब्धि परमात्मा की अनुभूति हो और फिर उस अनुभूति के अनुसार चित्र भी उसी में लगा रहे तब भक्ति होगी जाकर तो ज्ञान और विज्ञान तो पहले से लेकिन ज्ञान विज्ञान के क्या बिना वैराग्य के हो जाएगा वैराग्य पहले चाहिए तब ज्ञान विज्ञान हो अगर वैराग्य नहीं हुआ तो ज्ञान विज्ञान भी नहीं है इसलिए वैराग्य भी हो जाना स्वाभाविक तो जब भक्ति होगी तो ये सब आएंगे जो कि इस प्रकार से कहते हैं सहज ही ये सब प्राप्त हो जाएंगे अगर इस प्रकार से देखें भक्ति के अंतर्गत ये सब कैसे इम्प्लाइड है पहले इनकी आवश्यकता है तभी भक्ति आती है ऐसे नहीं कि कालभूषण ने तो भगवान से भक्ति केवल भक्ति मांगी थी लेकिन भगवान ने उनको ऊपर खुश होकर के फिर ये भी दे दिया जैसे ये अलग से कोई चीजें हैं का चलो भक्ति भी ले जाओ फिर ज्ञान विज्ञान वैराग आदि जो हमने पहले तुमसे बोले थे इनमें से कोई मांग लो चलो हम वो भी तुमको देते हैं हटा ले जाओ ऐसा नहीं <clears throat> देने का सवाल नहीं माने ये कि भक्ति प्राप्त हो गई भक्ति के साथ साथ ये सब पहले से आएंगे तभी भक्ति आएगी इसलिए कहा कि भगति ज्ञान विज्ञान विरागा और योग चरित्र रहस्य विभागा योग योगिक शक्तियां भी वो सब सुनने आ जाएंगी और चरित्र रहस्य भगवान की जो लीलाएं हैं उनका समझना भी बड़ा मुश्किल है उनका भी ज्ञान हो जाएगा कि भगवान की लीलाएं कैसे होती हैं कैसे वो शरीर धारण करते हैं कैसे अवतार लेते हैं कैसे लीलाएं करते हैं उनकी लीलाएं जो है विचित्र क्यों होती है तरह तरह की हर बार नई नई प्रकार की नई नई लीलाएं उनकी हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है ये भी व्यक्ति को सबको समझ में आ जाएगा तुम्हारे और फिर कहते हैं जानक तय सब ही कर भेदा और फिर तुम्हें सब बातें जो तुमको बताएंगे इनका सबका भेद भी जान जाओ ज्ञान भी जान जाओगे ज्ञान के भेद भी जान जाओगे बैराग भी जान जाओगे बैराग के भेद भी जान जाओ इन सबके भेद भक्ति के भेद भी जान जाओगे मैंने जितने ये बताए उनके सबके विभाजन भी है समझने के लिए उनके अलग अलग प्रकार के जैसे वैराग्य है तो वैराग्य जो है एक वैराग्य कई प्रकार का होता है एक उत्कट वैराग्य होता है एक मरकट वैराग्य होता है एक मरकट वैराग्य होता है अब ये सब वैराग्य जब जानेंगे तो सब पता चल जाएगा कितने कितने प्रकार का वैराग्य होता है मरकट वैराग्य जब ले गए किसी के शव को मरकट तक ले गए तब तक बिल्कुल विरक्त हो गए अरे संसार के क्या जीवन कितने दिन का है खत्म होगी बात सब सब है जहाँ मरकट से लौट करके घर आए अपने अपने काम में ले गए वैराग्य खत्म ऐसा क्षणिक वैराग्य मरकट वैराग्य और फिर कभी कभी मरकट वैराग्य हो जाते मरकट मैंने बानर बानर जैसा मैंने क्षण मार बुद्धि व्यक्त भ्रमित हो गए भूल गए सब वैराग्य फिर वो आया कि अरे वैराग्य होना चाहिए फिर वैराग्य आ गया हाँ? तो शरीर भसम भसम लगा दिए सर्दी के दिनों में वो उघारे हो गए कहा क्या बड़े वैराग्य और फिर कभी कभी इस प्रकार के प्रहलाद आ गया ये मरकट वैराग्य और उत्कट वैराग्य कि मैंने वैराग्य स्थायी वैराग्य हो गए ज्ञान के द्वारा जब वैराग्य आ जाता है कि सत्य क्या है जीवन क्या है जगत क्या है वो चित्र में ठीक ठीक बैठ गया तो फिर वैराग्य आ गया तो स्थायी वैराग्य फिर वो व्यक्ति का वैराग्य में फिर राग उत्पन्न नहीं होता ये जो कुछ रागपूर्ण कार्य भी करता है तो ऊपर से भले ही दिखाई दे कि इसको आसक्तियां इधर उधर इन वस्तुओं में है लेकिन उसका मन व्यक्त ही रहता है ये उत्कट वैराग्य का लक्षण है ऐसी करके हर का भक्ति भी अनेक प्रकार की है नवदा भक्ति आपने सुनी है प्रथम भगत संतन का संगा इत्यादि इत्यादि ऐसे करके भक्ति फिर दो प्रकार की भक्ति ऐसे भी भक्ति है कि एक साधन भक्ति है एक साध्य भक्ति है साधन भक्ति अभी तक आप भीषण करते आ रहे थे भगवान की भी प्राप्ति हो गई थी लेकिन उसके बाद अब इनको साध्य भक्ति जो है वो परा भक्ति है या ज्ञानियों की भक्ति है वो भक्ति इनको भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई तो दो प्रकार की भक्ति कम से कम इस प्रकार की है तो उन दो प्रकार की भक्तियों में साधन भक्तियों में जैन अनेक प्रकार की भक्तियां हैं तो इस प्रकार के विभाजन हो गए ज्ञान में भी कई प्रकार का ज्ञान हो गया ज्ञान है फिर विज्ञान है इन सब में प्रकार अंतर भेद है पंचदशी में इनके ज्ञान को भी ज्ञान की सब भूमिकाएं हैं इस प्रकार को बोला जाता है एक के बाद एक प्राप्त होती है तो इन सबके विभाजन है तो ये कहते हैं कि ये सब तुमको ज्ञात हो जाए सब जान जाओगे तुम जो बदल सब ही कर खेदा मम प्रसाद ही साधन खेदा और ये सब प्राप्त करने में तुमको सहज ही सब प्राप्त हो जाएंगे भगवान की कृपा करते हमारी कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे इसके लिए तुम्हें कोई साधन का खेद नहीं करना पड़े साधन खेद तो मैंने जब व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है साधन परिश्रम पूर्वक करे इंद्रिय निग्रह करे जब तक करे बैठा हुआ है सीधा अखड़ा हुआ बड़ी देर तक बड़ा अभ्यास कर रहा है बड़े शरीर में थकान हो रही है मन में बड़ी थकान हो रही है जब करना है दसमाला जब करना है तो मन नहीं करता जब करने तो लोग फिर भी लगे हैं वो तो पूरा करना ही करना है तब ये सब बड़े खेत की बात है सब ऐसा साधन में खेत के मन मतलब बड़ा कष्टकारक सब साधन होते हैं लेकिन भगवान कहते हैं देखो ये जब तुमको भक्ति प्राप्त हो गई तो फिर ये सब कुछ साधन की जरूरत नहीं सब तुम्हें प्राप्त हो योगी लोग जब योग करते हैं तो योग के द्वारा फिर उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और जो बोले वही हो जाए जो चाहे वही हो जाए अपराध वस्तुओं को प्राप्त कर ले इस प्रकार की शक्तियां उनमें योग के बल से आ जाती हैं तो उनसे बड़ा आकृष्ट होकर के लोग योग साधना करते हैं और योग साधना में बड़ा कष्ट होता है बहुत दिनों तक साधना करते करते बीस साल तक योग योग साधना करें तब इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो उनको सफलता हो लेकिन यदि व्यक्ति का चित्र परमात्मा में लगा रहता है और भक्ति उसको आ गई तो ये योगिक सिद्धियां भक्तों को ज्ञानियों को अपने आप आ जाती है उनको कहीं कोई साधन नहीं करना पड़ता ये आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार की इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति योगी जैसे साधना करते हैं उसी प्रकार साधना करते भक्ति के बल पर भी साधनी प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हें ये सब साधन चाहिए मेरे प्रसाद से मैंने भगवान कहते हैं मेरी कृपा से तुमको सब प्राप्त हो जाएंगे उनके प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और और साधनों में कठिनाई है भक्ति में कहते हैं भगवान कहते हैं कठिनाई भी नहीं बहुत जगह पहले भी कहा है जैसे अयोध्या वासियों को उपदेश करते हुए कहा है कहो भगत पत्र कवन प्रयासा योग न जप तप मख उपवासा सरल स्वभाव नमन कुटलाई बस बात इतनी ही है कि अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रहो बस इतनी बात बस बात इसी में भक्ति हो गई और इस भक्ति में सब ज्ञान भी हो गया विज्ञान भी हो गया योग भी हो गया योगिक सिद्धियां भी सब आ गई ये सब उसी में इम्प्लाई है प्राप्त हो जाएंगी लेकिन ये सिद्धियां भक्त को ज्ञानियों को तब प्राप्त होती है जब ये ज्ञानी और भक्त इन सिद्धियों को बिल्कुल बेकार समझ गए पूरा करकट माया जा उनको रंच मात्र भी मात्र तो नहीं देते तब वो भी पीछे पीछे लगी है कि चलो ये सिद्धियां प्राप्त हो अगर सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई भक्ति करे तो सिद्धियां भागेंगी जल्दी प्राप्त नहीं होंगी करो परिश्रम दौड़े रहो उनके पीछे करे रहो साधना करे रहो साधना बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी उनकी कामना त्याग कर दो भगवान की शरण दो सिद्धियां अपने आप प्राप्त हो जाए ये राहत उसका है तो कहते ये सब राहत भी तुम्हें मालूम हो जाएंगे माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी नहीं तो माया से होने वाले जितने भ्रम हैं वो अब तुमको नहीं व्यापेंगे जैसे कोई कहे कि देखो सूर्य के प्रकाश में तुम आ जाओ अब तुम्हें अंधकार है भटकाएगा नहीं अंधकार अंधेरे में भटकते हो तो तमाम गड्ढे में गिरते हो झाड़ी झंकार में फंसते हो सूर्य के प्रकाश में आ जाओ अब ये कुछ नहीं होगा ऐसे भगवान के क्षण में आने पर ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप आनंद स्वरूप भगवान के क्षण में आने पर फिर माया वहां नहीं है भ्रांति नहीं है माया के आकर्षण भी नहीं है फिर माया तभी तक आकर्षक लगती है जब तक परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं है परमात्मा नहीं प्राप्त है तो ये माया में जो परमात्मा का यथ किंचित प्रकाश माया में दिखाई देता है बस वही आकृष्ट कर रहा है व्यक्ति को और बस उसी में जाल में पड़ा हुआ है इस प्रकार कहते हैं माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी है तो ही माया नहीं लगेगी जान से ब्रह्म अनाद यज अगुण गुना कर्मो ही भगवान कहते हैं बस मित्रा करना कि ये समझना कि मैं परम परमात्मा में ही हूँ तो बस मेरा ही स्मरण करते रहना अब यहाँ देखो इस बात की सूचना है वैसे तो परम परमात्मा है ही है इस प्रसंग में इसलिए कहते हैं कि भगवान राम <clears throat> मन सगुण साकार अवतार किया तो मानवाकार रूप में भगवान की आराधना करें पूजा करें और उन्हीं को इष्ट माने तो भी इतना याद रखें उसके साथ साथ कि ये परम परमात्मा है ऐसा कि जाने से क्या जानते रहे कि भगवान राम ब्रह्म है अनाम ही है ये मत समझना कि अयोध्या में नवमी तिथ मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष हरिजित पशु दिन पैदा हो गए उसके पहले नहीं थे ऐसी बुद्धिमत रखो ये भगवान राम ब्रह्म है अनादि अनादि मैंने जिनका की आद नहीं होता जिनका की जन्म नहीं होता अज है अनाथ के बाद अज भी कह दिया अज मैंने जिसका न जन्म होता है न जिसका आदि होता है ऐसा जो ब्रह्म है उसी का नाम राम है वही राम है अगर वो सगुण साकार रूप भी धारण करते हैं तो भी अरे तो भी अनादि है माने ये भाव रखना पड़ेगा भगवान के साथ में नहीं तो अगर उन ये मान लिया कि मनुष्यों की तरह से उनका भी जन्म होता है तो उनको उस परब्रह्म परमात्मा को हम उतार करके ऐसी स्थिति में ले आए कि मनुष्य बना दिया बिल्कुल मनुष्य बना दिया ऐसे नहीं परमात्मा को परमात्मा रखो मनुष्य आकार में हो गए तो अपने विचार करने के लिए सुविधा हो गई ध्यान करने के लिए स्मरण करने के लिए सुविधा हो गई सुखदायक हो गया बार बार ये भी याद रखे कि वो परम परमात्मा वही है जो तीनों देवों के भी स्वामी वही है समस्त सृष्टि के समस्त माया के स्वामी वही है ऐसे परम परमात्मा है वही भगवान राम ऐसा भाव रख करके तब उनका स्मरण करो पूजन करो तो कहते जाने से ब्रह्म अनादि यज अगुण गुणा कर मोही कहते हमको अगुण भी समझो और गुणाकर भी समझो अभी दोनों विरोधी बातें आ गई अगुण के मैंने दुर्गुण ब्रह्म जी को समझो और गुणा कर कह दिया तो गुणों के आकर मैं समस्त गुणों की खान समस्त गुणों की खान किसमें जब भगवान राम उन्होंने अवतार लिया जो साकार रूप धारण किया उन्होंने तो जो लीलाएं की उनमें सब गुणे गुण है तब वो गुणों के भंडार अब यहाँ पहला गुण जो है वो तो सप्तम उन तीनों से परे है निर्गुण है इसलिए लेकिन जब अवतार लिया तब उसके मन के लिए समझ आ गए ना ये देखो कि उनमें समस्त जितने भी शील है उदारता क्षमा शांति संतोष आदि जितने भी गुण है वो सब भगवान में जो जैसी कि उनको जैसे एक मर्यादा होती है जीवन की वो सब पालन करने वाले हैं सबके प्रति उदार हैं ऐसे करके भगवान के जो गुण हैं उन सब गुणों को ये सब गुण के भंडार है तो इसके माने निर्गुण ब्रह्म को भी ध्यान रखो जो प्रथम परमात्मा है वो है उसी ने सगुण साकार रूप माया रूप धारण करके मनुष्य रूप धारण किया लेकिन मनुष्य में भी समस्त गुण विद्यमान है सगुण की महिमा अब निर्गुण ब्रह्म में आप ये नहीं कह सकते कि निर्गुण ब्रह्म बड़ा उदार है बड़ा शांत है बड़ा कृपाल है बड़ा व्यय अरे निर्गुण ब्रह्म तो निर्गुण ब्रह्म है सत्ता मात्र है चेतना मात्र है आनंद मात्र है अनादि अनंत बोलो सच्चिदानंद स्वरूप बोलो निर्विकार बोलो निरंजन बोलो अनवध्य बोलो ये सब तो बोल सकते हो परमात्मा इस प्रकार का लेकिन अब परमात्मा को ये कहो कि वो बड़ा शीलिंग धान है पर निर्गुण ब्रह्म क्या क्या चीज से क्या मतलब उसका बड़ा मात्र भक्त है बड़ा पितृ भक्त है बड़ा गुरु भक्त है तो निर्गुण भक्त तो ये सब कैसे होगा उसके लिए तो जब सगुण साकार रूप धारण किया हो तब मात्र पितृ भक्त हो भक्तों से भाइयों से प्रेम रखने वाला हो भक्तों से प्रेम रखने वाला हो तो सगुण तो रूप धारण करेगा तभी को तो फल आएंगे इसलिए दोनों उपयोगी है निर्गुण ब्रह्म अपने स्थान पर अनादि अनंत होकर के सर्वाधार सर्वनियंता होकर के जगत भी नहीं कभी विद्यमान है ये महिमा उसकी है और सगुण साकार की महिमा ये है कि समस्त गुण उसमें विद्यमान है उसका हम अपने हृदय में स्मरण भी कर सकते हैं सुंदर स्वरूप भी है शील निधान भी है कृपा निधान भी है हमारे हमारे विकारों को दूर भी करने वाला है मानसिक विकारों को शांति प्रदान करने वाला है सगुण रूप है ये सब बहुत सी बात है तो अपने अपने दोनों की महिमा है सगुण की अपनी महिमा है निर्गुण की अपनी महिमा है तो इस प्रकार से दोनों को स्मरण रखो अगम गुणाकर मोह ही इस प्रकार के जानते रहना या स्मरण रखना कहते हैं मोह ही भगत प्रिय संतत अस विचार सुनकार अब कहते हैं कि मुझे भक्त होती प्रिय है संतत प्रिय है सुधा प्रिय है भक्त लोग अस विचार सुनकार ऐसा विचार करके तो फिर सुनो आगे बताते हैं कि चूंकि भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं तो उन भक्तों के लिए भगवान क्या कहते हैं काय वचन मन मन मम पद करे सुचल अनुराग तब तो दो बातें हो गई एक तो भगवान को प्रथम परमात्मा ये जानो और फिर परमात्मा में ही प्रेम रखो परमात्मा की माया और माया से विस्तार वाला समस्त जगत शरीर आदि है उनमें प्रेम नहीं प्रेम परमात्मा में रखो तब तो भक्ति हो गई परमात्मा में प्रेम रखना तो भक्ति हो गई परमात्मा तो अनादि अनंत है ब्रह्म है सच्चिदानंद स्वरूप है ऐसा जानना ज्ञान हो गया तो देखो जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो ज्ञान तो आती आती है ज्ञान की बात भगवान स्वयं कहा तुम तो भक्त हो भक्ति का वरदान देते हैं लेकिन याद रखना ये कि मैं ब्रह्म ये भी बोल देते तो भगवान में भक्ति करने से फिर कहते हैं कि मन बाणी और कर्म से सब प्रकार से भगवान की भक्ति होनी चाहिए भक्ति केवल बाणी बाणी की भक्ति नहीं भक्ति तो सबसे पहले तो मन में होनी चाहिए हृदय में भक्ति होनी चाहिए और फिर वो भक्ति बाणी में भी होनी चाहिए फिर वो भक्ति फिर कर्म के द्वारा भी होना चाहिए तो कहते हैं कि काय वचन मन मम पद कर स्वचल अनुराग साधन की दृष्टि से पहले शारीरिक भक्ति करो फिर वाणी की भक्ति करो फिर मन में